बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना तंग जमाना आंखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना आंखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना काविश हाफिज अबू बकर पेशकश Rehman enterprises phone number zero two one seven double zero double one eight two मुमकिन नहीं सूरत में न हो कोई तगैर मुमकिन नहीं सूरत में ना हो कोई तगैर कोई तगैर बेकार है फिर उनसे तेरा दिल का लगाना बेकार है फिर उनसे तेरा दिल का लगाना दिल का लगाना बेपरदा हसीनों से हुआ तंग जमाना तंग जमाना लेकिन अगर आंखों को न तो उनसे बचाए लेकिन अगर आंखों को न तो उनसे बचाए उनसे बचाए लेकिन अगर आंखों को न तो उनसे बचाए मुमकिन नहीं फिर दिल का तेरे उनसे बचाना मुमकिन नहीं फिर दिल का तेरे उनसे बचाना उनसे बचाना बेपरदा हसीनों से हुआ तंग जमाना आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना आँखों की हिफाजत में है इस दिल का सकूं भी आँखों की हिफाजत में है इस दिल का सकूं भी इस दिल का सकूं भी गो नफ्स करे तुझसे कोई और बहाना गो नफ्स करे तुझसे कोई और बहाना और बहाना बेपरदा हसीनों से हुआ तंग जमाना आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना धोखा है तुझे लुत्फ हसीनों से मिलेगा धोखा है तुझे लुत्फ हसीनों से मिलेगा हसीनों से मिलेगा का है तुझे लुत्फ हसीनों से मिलेगा इबलीस के कहने से कभी उस पे न जाना इबलीस के कहने से कभी उस पे न जाना उस पे न जाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना बेपरदा हसीनों से हुआ तंग जमाना आंखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना पागल की तरह फिरते हैं उशाक मजाजी पागल की तरह फिरते हैं उशाक मजाजी उशाक मजाजी पागल की तरह फिरते हैं उशाक मजाजी बेचैन है दिन रात ये बदनाम जमाना बेचैन है दिन रात ये बदनाम जमाना बदनाम जमाना बेपरदा हसीनों से हुआ तंग जमाना आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना रहना है अगर चैन से सुन लो ये मेरी बात रहना है अगर चैन से सुन लो ये मेरी बात सुन लो ये मेरी बात रहना है अगर चैन से सुन लो ये मेरी बात आँखों को हसीनों की नज़र से न मिलाना आँखों को हसीनों की नज़र से न मिलाना नज़र से न मिलाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना आँखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना अख्तर की ये एक बात नसीहत की सुनो तुम अख्तर की ये एक बात नसीहत की सुनो तुम नसीहत की सुनो तुम उन मुर्दा हसीनों से कभी दिल न लगाना उन मुर्दा हसीनों से कभी दिल न लगाना दिल न लगाना अख्तर की ये एक बात नसीहत की सुनो तुम उन मुर्दा हसीनों से कभी दिल न लगाना दिल न लगाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना तंग तंग जमाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना तंग जमाना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना आंखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना आंखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना दिल को सताना बेपर्दा हसीनों से हुआ तंग जमाना तंग जमाना आंखों ने शुरू कर दिया अब दिल को सताना